थोड़े से प्रश्नों पर और हम विचार कर सकेंगे कुछ प्रश्नों तो कहते कि हमें किताब नहीं चाहिए यात्रा करते हुए उस आश्रम में ठहरा कहते भी गया प्राण अगर पूछे थे लेकिन बिना प्यास के हम भटकते रहते बताइए क्योंकि बिना खोजे सबको हमारी कच्ची करे और वो तभी होगी सच्ची प्यास की खोज जब आप जो अपनी प्यास का सहारा पकड़े और खोजे झूठी बातें तो नहीं है कि मैं ईश्वर को जाता हूं फिर तो ये बहाना भी नहीं रह जाएगा द्वार की कि सीढ़ियां उतरते वक्त आवाज ना हो जाए कहीं वो आ ही ना जाए और मैं भागा उसके द्वार है होता है मन दस मील का रास्ता कैसे पार होगा बेटे तुम बैठे क्यों उसने कहा कि मैं निरीक्षण दो फीट ही सही दस मील ना सही थोड़ा सा ही सही लेकिन करे तो संबंध स्थापित करना चाहिए वहां इस तरह की बड़ी का क्वीन ऑफ इंग्लैंड मैं हूं इंग्लैंड की महारानी